परम पिता परमात्मा का स्मरण कल्याणकारक परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों परमात्मा हमारा किस किस प्रकार से कल्याण करता है हमारे कल्याण के लिए क्या क्या वस्तुएं आवश्यक हैं किन किन के प्रति हमें ध्यान रखना चाहिए ये बात आज के स्वाध्याय के मंत्रों में कही गई है इन तीनों मंत्रों को महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में एक साथ उद्धृत किया है ये मंत्र यजुर्वेद के छत्तीसवें अध्याय के हैं आठवां मंत्र दसवां मंत्र और ग्यारहवां मंत्र इन तीनों मंत्रों में शम यानी कल्याण की सुख की कामना प्रार्थना की गई है हम सबके लिए ये वस्तुएं ये देवता ये लोक लोकांतर आदि हितकर हों कल्याणकारी हों और इनके साथ साथ परमात्मा को भी जोड़ते हुए आर्य प्रार्थना कर रहे हैं इंद्रो विश्व से राजती इंद्र यानी परमात्मा ऐश्वर्य युक्त विश्वस्य इस संसार के बीच में मध्य में सर्वत्र राजति प्रकाशित हो रहा है राजा के रूप में विद्यमान है सबका संचालक है व्यवस्थापक है सबका प्रबंध करने वाला है ये बात मन में रख करके अब आगे आर्य बोल रहा है ये सब परमात्मा की रक्षा से चल रहा है और परमात्मा इस सब का राजा है और उसके रहते हुए हम क्या कामना कर रहे हैं शनो अस्तु द्विपदे जो हमारे दो पैर वाले हैं यानी अन्य मनुष्य हमारे पुत्र आदि मित्र आदि परिवार वाले राष्ट्र वाले अन्य मनुष्य जितने भी दो पैर वाले प्राणी हैं उनका कल्याण हो उनका हित हो और शम चतुष्पदे जो चौपाए हैं चार पैर वाले हैं उनका भी हित हो कल्याण हो और इससे अधिक भी पैर वाले जो हैं उन सबका ग्रहण इसमें हो जाएगा यानी जितने भी प्राणी हैं उन सबका हित हो कल्याण हो आर्य को मन में ये भावना रखनी चाहिए कि न केवल मेरा हित हो बल्कि मेरे आसपास रहने वाले दो पैर वालों का और चार पैर वालों का समस्त प्राणियों का भी कल्याण हो और ये प्रार्थना आर्य करेगा प्रार्थना अंततः अपने लिए जाती है हमारा हित जिसमें होता है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं तो यहां इन सबकी प्रार्थना करता हुआ इन सबके हित की कल्याण की कामना करता हुआ आर्य इस बात को समझ रहा है कि ये सब मेरे हित के लिए है ये सब मेरे कल्याण के लिए है इन सब का कल्याण चाहता हुआ मैं अपना कल्याण चाहता हूं इन सब का कल्याण होने में मेरा भी कल्याण है मेरा भी हित है और इसके विपरीत करके भी देख सकते हैं कि इन सब के अकल्याण में इन सब की हानि में मेरी भी हानि छुपी हुई है यदि मैं इनके कल्याण के लिए प्रयत्नशील नहीं रहूंगा तो मेरी भी हानि होगी इस सब को देखते हुए आर्य स्वार्थी नहीं हो सकता अंतिम हित सबको अपना अपेक्षित होता है वो रहेगा लेकिन एक स्वार्थ की सिद्धि होती है केवल अपने को केंद्र में रखते हुए अपना हित करते हुए स्वार्थ सिद्धि एक सबका हित करते हुए स्वार्थ की सिद्धि अपने लक्ष्य की प्राप्ति की सिद्धि आर्य समाज के नियमों में महर्षि दयानंद ने जो लिखा अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए यहां जो प्रार्थना की जा रही है समस्त प्राणियों की उनके कल्याण की ये अन्यों की सबकी हित की कामना करते हुए उनका हित करते हुए अपना हित साधना है ये प्रक्रिया है ये ही स्वार्थी और परोपकारी में अंतर होता है तो परमात्मा को सबका राजा स्वीकार करते हुए उसके नियम के अनुरूप इन सब का हित हो और उसी में मेरा भी हित छुपा हुआ है प्राणियों के आगे फिर अन्य चीजों को लिया गया दसवें मंत्र में कहा शनो वात पवता ये वायु हमारे लिए कल्याणकारी होकर के बहे हमारा हित करे वायु तीव्र चलती है आंधी आती है अथवा अन्य किसी ढंग से विपत्ति आए दुर्गंधित हो हानिकारक हो अति उष्ण हो अति शीत हो वो हमारे लिए कल्याणकारक नहीं होती है तो ये कामना की गई परमात्मा ये सारी व्यवस्थाएं करता है लेकिन फिर भी इनमें उत्पात होते हैं उसमें बहुत सा कारण हमारा भी होता है तो हमारे द्वारा इनके साथ ऐसा व्यवहार हो वायु आदि देवताओं के साथ कि हमारे लिए कल्याणकारक बने रहें शीतल मंद सुगंधित वायु ये विशेषण महर्षि ने दिए हैं इस तरह की वायु हमारे लिए बनी रहे परमात्मा राजा है लेकिन हम यदि इन चीजों के प्रति प्रयत्नशील न हो सावधान न हो तो ये हानिकारक भी हमारे लिए होती हैं हो सकती हैं शन्न स्तपतु सूर्य ये सूर्य हमारे लिए कल्याणकारी होके तपे उचित मात्रा में तपे शन्न कनिक्रत देव पर्जन्य अभिवर्षतु ये ध्वनि करने वाला मेघ देव बादल हमारे लिए कल्याणकारी होते हुए चारों ओर बरसें पर्याप्त मात्रा में वृष्टि करें यहां बादल के साथ में कनिक कृतक ये विशेषण दिया गया सम्यक प्रकार से गरजते हुए केवल पानी की कामना हो हमारी तो गरजने की आवश्यकता नहीं है पानी वैसे ही बरस जाएगा लेकिन ये जो ध्वनि गरजना होता है ये विद्युत के कारण होता है बिजली कड़कती है और उसी के साथ फिर कुछ देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है इस ध्वनि से जुड़ी है, जुड़ी हुई है विद्युत आकाशीय विद्युत और उस विद्युत के साथ में भी हमारा हित जुड़ा हुआ है वैज्ञानिक बताते हैं कि बिजली के कड़कने से ऊपर बहुत अधिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन नाम की वायु गैस बड़ी मात्रा में है तीन चौथाई भाग में है लगभग उस नाइट्रोजन से परिवर्तित होके खाद बनती है उर्वरक बनते हैं नाइट्रेट्स बनते हैं और ये विद्युत की उपस्थिति में आकाश में बनते हैं जब वो बिजली कड़कती है वायु वहां उपस्थित है नाइट्रोजन है उससे ऐसे तत्व बनते हैं जो खाद का काम करते हैं और वो पानी के साथ में नीचे आते हैं तो बारिश होने पर केवल पानी के कारण ही पेड़ पौधे नहीं उभरते हैं बारिश होते ही पेड़ पौधों की गति एकदम बढ़ जाती है वो सादा पानी देने से नहीं होती लेकिन बारिश के पानी में क्या विशेषता तो उसके साथ में ये नाइट्रोजन से बने हुए तत्व जो खाद हैं उर्वरा हैं उर्वरक तत्व हैं वो भी बरस के आते हैं वैज्ञानिकों को इस तरह उद्धृत किया जाता है कि बहुत पहले ऐसा मैंने सुना था कि एक बार आकाश में जब बिजली कड़कती है तेज उससे इतने उर्वरक पैदा हो जाते हैं जितने उस समय सोवियत संघ में जितने खाद के कारखाने हैं वो साल भर में जितना खाद पैदा करते हैं रासायनिक खाद जो बनाते हैं उतना एक ही बार के गरजने से आकाश में खाद बन जाती है इतनी अधिक बनती है मनुष्य कहीं खाद डालता है जहां खाद नहीं डलता है वहां भी तो पेड़ पौधे उगते हैं पत्तों से भी खाद बनती है और चीजों से भी बनती है जीव जंतुओं के मल से मरने से इन सब के गलने से भी खाद बनती है लेकिन फिर भी जितनी खाद की आवश्यकता है वो इतने मात्र से पूर्ण नहीं होती ये परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है तो ये पर्जन्य देव बरसे चारों ओर से बरसे कैसे कनिकृत ध्वनि करता हुआ ताकि उसके साथ में उर्वरक पदार्थ भी हमारे लिए आए और ये सब हमारे लिए कल्याणकारक हो अगले मंत्र में फिर अन्य चीजें कही अहानिशम भवन तुन हमारे लिए ये दिन सारे दिन बहुवचन है प्रत्येक दिन हमारे लिए कल्याणकारक हो दिन का काल हमारे लिए हितकर हो और शन रात्रि ही प्रतिधीयताम और ये समस्त रात्रियां प्रति रात्रि हमारे लिए हितकर हो धारण करने वाली हो यहाँ प्रतिधीयता में व्यत्यय से वचन व्यत्यय हुआ है रात्रि ही बहुवचन है ये एक वचन है शन्न इंद्राग्नि भवताम अवो भी इंद्र और अग्नि जो देवता है इंद्र यानी विद्युत या सूर्य और अग्नि अवो भी विभिन्न रक्षाओं के द्वारा हमारी रक्षा करते हुए हमारे लिए कल्याणकारी होंगे ये हमारा हित करते हुए हमारे लिए कल्याणकारी हो एक कल्याणकारी हम यूं समझते हैं कि जिससे हमें कोई हानि ना हो रही हो वो ठीक है हमारे लिए कल्याणकारक है वो चुप है हमारे लिए कल्याणकारक है लेकिन ये ऐसे हो हमारी रक्षा करते हुए हमारे लिए कल्याणकारक हमारा हित करते हुए कल्याणकारक हो शन्न इंद्रा वरुणा रात हव्या इंद्र और वरुण भी महर्षि ने इंद्र का अर्थ यहां पर वायु किया है और वरुण का अर्थ चंद्रमा किया है ये वायु और चंद्रमा भी हमारे लिए हितकारक हो महर्षि ने यहां पर लिखा अर्थ में हे प्राणाधार होम से शुद्धि गुण युक्त हुए आपकी प्रेरणा से वायु और चंद्र हम लोगों के लिए सुख रूप ही सदा हो मंत्र में जो रात हव्या शब्द पढ़ा है उसको महर्षि ने खोला है शुद्धि गुण युक्त हुए आपकी प्रेरणा से हमने होम किया <clears throat> हमने कुछ द्रव्य प्रदान किया अग्नि में और वो सूक्ष्म होकर के वायु में गया और वायु में जाकर के वो फिर हम सबके लिए हितकारक हुआ इस बात को ही रात हव्या शब्द से कहा गया है इसमें दो पद हैं एक रात एक हव्या रात शब्द राधाने धातु से उत्पन्न होता है रातम दत्तम हव्यम हव्य कहते हैं हु धातु से दान और आदान दोनों अर्थों में ये है यहां आदान अर्थ लिया गया है तो हव्यम आदातव्यम सुखम याभ्याम ते जिनके द्वारा हमें दिया हुआ दी हुई वस्तु फिर से सुख रूप में लौट के मिलती है ऐसे वो ये प्रक्रिया यहां पर छुपा दी गई कि ये वायु आदि हमारे लिए कैसे हितकारक हों कि हम इनके लिए कुछ दें और वो दिया हुआ फिर हमारे लिए हितकारक हो इस शैली से यह हितकारक हो तो इस एक शब्द से ही यहां पर समस्त जगह हमें समझना चाहिए कि इन सब के हित की कामना करके हम इनसे कल्याण प्राप्त कर सकते हैं और वो परमात्मा के राजा के रहते हुए व्यवस्था के रहते हुए होता है अधार्मिक व्यक्ति अनार्य व्यक्ति इनसे उपभोग चाहता है इनका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है लेकिन इनको कुछ दे करके इनको शुद्ध करके इनका हित करके फिर उठाना नहीं चाहते वो केवल वर्तमान में अपना लाभ चाहते हैं उससे इनका कितना भी प्रदूषण हो कितनी भी हानि हो इन सब का हमें उपयोग लेना है लेकिन वेद का संदेश है इनका हित करते हुए इनसे हमें सुख लेना है यानी हमारा कर्तव्य भी यहां पर छुपा हुआ है और ये बात इसके ऋषि से भी पता लगती है इस मंत्र का ऋषि है दध्यंग आथर्वण दध्यंग आथर्वण नाम का ऋषि है ये नाम इनका औपाधिक प्रतीत होता है जो आर्य जो ऋषि इन मंत्रों का दृष्टा है इन तीनों मंत्रों का ऋषि दध्यंग आथर्वण है जिसने इन मंत्रों का आत्मसात किया है इनको समझा है और उस तरह से जीवन जिया है वो कैसा बन जाएगा वो दध्यंग आथर्वण बन जाएगा दध्यंग अलग शब्द और आथर्वण अलग शब्द दध्यंग में भी दो धातुएं हैं एक धारणार्थक धातु है और एक अंचु गत्यर्थक धातु है तो दधी दधाते है और अंचु गति पूजन गति प्राप्ति अर्थ में भी तो इसका अर्थ किया जाता है यो धारकान अंचति प्राप्नोति इति सतथ्यं जो धारण करने वालों को प्राप्त कर लेता है वो तथ्यंग है इन मंत्रों में जो दो पाए वाले दो पैर वाले चौपाए समस्त प्राणी अन्य वायु जल चंद्रमा सूर्य विद्युत मेघ इन सब चीजों का वर्णन है ये सबके सब धारण करने वाले हैं तो जो इन धारकों को प्राप्त कर लेता है इन धारण करने वालों को प्राप्त कर लेता है इनका उपयोग ले लेता है उसे कहते हैं दध्यंग तो इन धारण करने वालों का उपयोग कौन ले लेता है उचित उपयोग कौन ले लेता है जो कि रात हव्या इस शैली से चलता है इनका हित करते हुए इनसे लाभ उठाता है ये वैदिक रीति है प्रकृति के उपभोग की प्रकृति के उपयोग की तो इस मंत्रों को समझ करके इन मंत्रों का साक्षात्कार करके वो व्यक्ति वो ऋषि दध्यंग बन गए थे उनका वास्तविक नाम जो भी हो इस मंत्र को पढ़ने वाला इस मंत्र को समझने वाला दध्यंग बनेगा जो भी इस मंत्र का दृष्टा होगा जो भी इस मंत्र के अर्थ को समझेगा वैसा जीवन जिएगा वो कैसा बनेगा दध्यंग बन जाएगा वो भी धारण करने वालों को प्राप्त करने वाला और यदि वैदिक रीति से इनका उपभोग न किया जाए तो इनको वो प्राप्त तो करेगा लेकिन ये धारण करने वाले होते हुए प्राप्त नहीं करेगा यदि वायु शुद्ध है तो धारण करने वालों को हम प्राप्त कर रहे हैं और यदि वायु अशुद्ध है दूषित है तो प्राप्त तो हमें फिर भी करना ही है श्वास तो लेनी है लेकिन उस स्थिति में ये धारण करने वाले नहीं रहेंगे कि हानि पहुंचाने वाले होते हुए हमारे को हमारे द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं जैसा कि शहर में या प्रदूषित स्थानों में होता है तो हम तथ्यंग बने हम इनको प्राप्त करें कैसे धारण करने वालों को हम प्राप्त करें और वो व्यक्ति दध्यंग बन जाएगा हम सबको आर्यों को मनुष्यों को दध्यंग बनना है और उसके लिए इन देवों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करना है पर्यावरण आदि का ध्यान रखते हुए ये देव यज्ञ उसका एक भाग है और आगे ऋषि का दूसरा नाम इसके साथ जोड़ के किया आथर्वण अथर्वण का जो पुत्र है वो आथर्वण है अथर्वण और उस परंपरा वाला जो है लगातार ये परंपरा चली आ रही है उसका पुत्र है ये उसका उसकी संतान है और अथर्वण अर्थात अथर्वण अर्थात अहिंसक थर्व धातु थर्व शब्द हिंसा अर्थ में भी आता है थर्वण जो हिंसक है उसका और अथर्वण जो हिंसक नहीं है उसका जो हानि नहीं पहुंचा रहा है उसका तो जो ये दध्यंग बना है धारण करने वालों को जो प्राप्त कर रहा है वो कैसा है अथर्वण का पुत्र है उस परंपरा वाला है जो हिंसा नहीं करता है हानि नहीं करता है अथर्वण अहिंसक से अहिंसक का अपत्य अथर्वण और अथर्वण इसका दूसरा अर्थ है छिन्न संशय से जिसके संशय छिन्न हो गए हैं कट गए हैं हट गए हैं बिखर गए हैं संशय से जो रहित हो गया है वो भी अथर्वणा है और उसका पुत्र अथर्वणा उस अथर्व के पुत्र का वो ऋषि है यहां पर अथर्वणा तो छिन्न संशय कैसे बनेगा इसका अर्थ तो थर्वती चरती कर्मा निरुक्त में आया थर्व जो धातु है वो चरति कर्म चर अर्थ वाली है और चर धातु संशय अर्थ में है चर संशय तो जो थर्व है यानी चर है संशय से युक्त है उसका अभाव जहां है तो वो अथर्व कहलाएगा संशय का और चर का चलने का चर का सामान्य एक हम अर्थ गति गति भी लेते हैं जो गतिशील है गतिशील कौन होता है जो संशय से युक्त होता है किस अर्थ में गतिशील कभी इधर कभी उधर कभी यहां कभी वहां जिसको अपना लक्ष्य नहीं मिलता निर्धारित स्थान नहीं मिलता निर्धारित ज्ञान नहीं मिलता तो वो भटकता रहता है इधर उधर इधर उधर विचारों के स्तर पर भी कभी ये सोच रहा है कभी वो सोच रहा है जिस समय हमारे अंदर ये गति चलती है वो हमारे संशय की अवस्था होती है हम निर्णय नहीं कर पाते तो बहुत अधिक गतिशील होते हैं विचारों के स्तर पर और शारीरिक स्तर पर भी हम गतिशील हो जाते हैं यदि संशय रहता है तो और जो अथर्वा है गति से रहित हो गया है वो स्थिर हो गया है संशय से रहित होते ही हम स्थिर हो जाएंगे मानसिक रूप से भी और व्यवहार में भी कहीं टिक जाएंगे हम तो इन मंत्रों का साक्षात्कार करने वाला संशय से रहित हो गया है उसे पहली बात यह पता है कि इस सब का राजा परमात्मा है वो ही व्यवस्था कर रहा है वही प्रबंधक है और इन ये सब चीजें मेरे कल्याण के लिए हैं ये उसे समझ में आ गया है और इसलिए इनका हित करते हुए वो इनसे लाभ उठाना चाहता है ये आर्यत्व हो गया ये जीवन जीने की शैली हो गई ये परमात्मा के द्वारा दी गई विधि हो गई इस संसार में हमें कैसे रहना और उसको ये भी संशय मिट गया है कि मैं अकेला इन अन्यों की परवाह न करते हुए कल्याण को प्राप्त कर लूंगा ये भाव उसके मन से हट चुका है उसे समझ में आ गया है कि मैं अकेला अपने लिए लेकर के चलता रहूं अपना हित करते हुए स्वयं आगे अंत तक पहुंच जाऊं चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लूं ये नहीं हो पाएगा मुझे इनकी सहायता आवश्यक है और इनकी सहायता तभी ठीक मिल सकती है जब मैं इनका हित करते हुए इनसे लाभ प्राप्त करूं तो शन्न इंद्रा वरुणा रात हव्या ऋषि की दृष्टि से इस मंत्र की संगति है और इससे हमें यह भी पता लगता है कि ऋषियों के नाम कैसे रखे गए देवता इस इन तीनों मंत्रों के इंद्र सूर्य आदि जो जो उद्धृत किए गए हैं जो हमारे कल्याण के लिए हो वो सब इस इन मंत्रों के देवता हैं इन मंत्र के विषय हैं आगे कहा शन्न इंद्रा पूषणा वाज सातव इंद्र और पूषणा ये बलयुक्त प्राण आयु आदि ये हमारे लिए वाज सातव युद्ध में स्थिर रहे लाभकारी हो जब हमें अन्याय अत्याचार से संघर्ष करना हो तो हमारी आयु हमारे प्राण हमारा बल ये स्थिर रहे वाज सातो ये युद्ध के लिए आता है युद्ध में क्योंकि वाजानी अन्नानी संभजंती यया तस्याम युधि युद्ध में जिसमें विभिन्न अन्नों का ऐश्वर्यों का विभजन होता है ये किसके पास में रहे ये आर्यों के पास में रहे या अनार्यों के पास में रहे ये युद्ध चलता रहेगा जीवन भर इस सृष्टि में सृष्टि का जो ऐश्वर्य है ये किसके पास में रहे धार्मिकों के पास में रहे या अधार्मिकों के पास में रहे तो आर्य लोग भी धार्मिक लोग भी युद्ध करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इन वस्तुओं का उपयोग उचित व्यक्ति करें इसलिए वो संघर्ष करते हैं क्योंकि अनार्य व्यक्ति जो संसार का अहित करते हैं हानि करते हैं वो इन पर कब्जा जमाते हैं वो अपने इन्हें बनाते हैं बना लेते हैं वो सज्जनों से इसे छीनना चाहते हैं तो आर्यों को ये युद्ध करना ही होता है हितकर चीजें आर्यों श्रेष्ठों के पास में रहे उनके नियंत्रण में रहे जिससे इस संसार का हित हो और उससे हमारा भी व्यक्तिगत हित भी हो शम इंद्रा सोमा सुविता यशयो इंद्र और सोम भी हमारे लिए इन समस्त चीजों के उत्पन्न करने के लिए कल्याण कारक हो महर्षि ने यहां पर परमात्मा को हे महाराज आपके प्रबंध से ये प्रबंध परमात्मा का है परमात्मा के प्रबंधन से ये सब कुछ हो रहा है और विचित्र प्रबंध का है देखिए आपके प्रबंध से राजा और प्रजा परस्पर विद्यादि सत्य गुण युक्त होके अपने ऐश्वर्य का उत्पादन करें राजा और प्रजा दोनों जैसे परमात्मा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं वो तो इसी तरह शासन प्रबंधन करता है कि वो विद्यादि सत्य गुणों से युक्त होकर के परस्पर ऐश्वर्य का उत्पादन करते हैं लेकिन हमारे जो लौकिक राजा हैं और जो प्रजाएं हैं उन उनकी वे भी परस्पर विद्यादि सत्य सत्य गुण युक्त तो होके महर्षि परस्पर शब्द यहां पर बोल रहे हैं ये तो केवल ये कहते हैं कि विद्यादि सत्य गुण युक्त तो होके परस्पर का मतलब है विद्यादि सत्य गुण युक्त तो होने में एक दूसरे की सहायता करते हुए हम इनको प्राप्त करें दूसरे को भी इस ओर बढ़ाते हुए अपनी वृद्धि करें तो परस्पर विद्यादि सत्य गुण युक्त होके अपने ऐश्वर्य का उत्पादन करें अपने ऐश्वर्य का उत्पादन हम अपने विद्यादि सत्य गुणों से कर सकते हैं व्यक्तिगत लेकिन महर्षि का यहां पर जो जोर है ये मेरे को परस्पर शब्द में दिखाई देता है और जो कि मंत्र की भावना भी है मंत्र का जो ऋषि भी है उन सबसे ये प्रतीत होता है कि ये विद्यादि सत्य गुणों की वृद्धि हमें कैसे करनी है परस्पर करनी है एक दूसरे को साथ में लेते हुए एक दूसरे को बढ़ाते हुए दूसरे की सहायता करते हुए और दूसरे से सहायता लेते हुए ये हमें करना है ये वैदिक रीति है ये वेद का आदेश है इसी से हम परस्पर प्रीति युक्त होके अत्यंत सुख लाभों को प्राप्त होंगे और महर्षि के लिए महर्षि ने लिखा है भाव में कि आप हम पुत्रों को सुखी देख के अत्यंत प्रसन्न हो हम ऐसा जीवन जिए कि परमात्मा प्रसन्न हो कि मेरे पुत्र ये आर्य श्रेष्ठ संतानें मेरे आज्ञा के अनुसार चल के कितने सुखी हो रहे और हम भी प्रसन्नता से आप और जो आपकी सत्य आज्ञा उसमें ही तत्पर हो इसी में अपना कल्याण मानते हुए हम आगे बढ़े कई बार ये प्रश्न उठता है क्या परमात्मा प्रसन्न होता है यहां जैसा लिखा है प्रसन्न जैसे हम प्रसन्न होते हैं हम प्रसन्न भी होते हैं अप्रसन्न भी होते हैं सुखी भी होते हैं दुखी होते हैं नाराज हो जाते हैं तो ये मनुष्यों में प्राणियों में तो देखा जाता है और प्रसन्नता को हम अच्छा समझते हुए भी विभिन्न अर्थों में विभिन्न प्रसंगों में हम उसे गलत भी समझते हैं और ये मान के चलते हैं कि जो प्रसन्न होता है वो अप्रसन्न भी होता है तो क्या परमात्मा भी प्रसन्न अप्रसन्न होता है प्रसन्नता अप्रसन्नता के साथ हम सुख और दुख को भी जोड़ के देखते हैं क्योंकि जब हम प्रसन्न होते हैं तो सुख होता है हमें प्रसन्नता का ही नाम सुख है या प्रसन्नता होने पर किसी से संतुष्ट होने पर हमारे मन में सुख आता है और किसी से खिन्न होने पर अप्रसन्न होने पर हमारे अंदर दुख का भाव आता है तो अभी कुछ दिन पूर्व मेरे को भी एक एसएमएस आया कि क्या परमात्मा प्रसन्न होता है या अप्रसन्न होता है प्रश्न पूछा यदि हम अपने प्रसन्नता अप्रसन्नता जिसमें कि सुख और दुख जुड़ा हुआ है उसको जोड़ के परमात्मा के साथ देखेंगे तो वहां संगत नहीं लगेगा जैसे हम प्रसन्नता से सुखी होते हैं अप्रसन्नता से दुखी होते हैं ये हमारे में संभव है क्योंकि हम अपूर्ण हैं और कुछ पाकर के हमारे अंदर अच्छा भाव उत्पन्न होता है प्रगति करके लेकिन चूंकि परमात्मा पूर्ण है आनंद से युक्त है उसको कोई कमी नहीं है उस वो दुखी हो ही नहीं सकता इसलिए प्रसन्नता अप्रसन्नता परमात्मा में कहते हुए भी हम वहां पर सुख और दुख कोई नया सुख मिलना और नया दुख मिलना ऐसा हम नहीं मान सकते नहीं मानना चाहिए महर्षि की प्रसन्नता अप्रसन्नता इन शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य इनकी रीति अलग समझनी चाहिए परमात्मा हम सबका कल्याण करता है और जो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप चलता है उसके लिए परमात्मा और अधिक कल्याण करता है और अधिक साधन उपलब्ध कराता है उसको और अधिक सहयोग देता है यही परमात्मा की प्रसन्नता है जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हमारे से प्रसन्न हो कोई अधिकारी राजा गुरु माता पिता तो प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होकर क्या करते हैं जब वो प्रसन्न होते हैं राजा कभी अपने सेवक पे प्रसन्न होता है तो सोने की माला रत्नों की माला मोतियों की माला उतार के दे देता है उसको प्रसन्नता के साथ एक भाव है कि वो राजा खुश हुआ सुख को प्राप्त हुआ और एक उससे प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है फिर उसको कुछ उपकृत करता है देता है वहां पर जब किसी के प्रति हमारे मन में प्रसन्नता का भाव होता है तो देने की भावना बढ़ जाती है इसको ये भी दे दू इसको ये भी दे दू इसने बहुत अच्छा कार्य किया बहुत अच्छी आज्ञाओं का पालन किया सबके लिए हित का हित कार्य किया तो जिससे हम प्रसन्न होते हैं उसके लिए कुछ देने की भावना हमारे में होती है हम उसको कुछ अतिरिक्त देते हैं तो प्रसन्नता के साथ एक भाव जुड़ा हुआ है दुख का और एक जुड़ा हुआ है दूसरे को देने का अप्रसन्नता के साथ में एक भाव जुड़ा हुआ है अपने दुख का और एक है उसको चीजें न देने का जिससे हम अप्रसन्न होते हैं उसको कोई चीज देते हो तो रुक जाते हैं उसको नहीं देंगे उस पर कृपा नहीं करेंगे तो प्रसन्नता अप्रसन्नता के साथ में दो पक्ष जुड़े हुए एक अपने से जुड़ा हुआ और एक दूसरों से जुड़ा हुआ अपने से जुड़ा हुआ जो सुख और दुख है वो परमात्मा में संभव नहीं है इसलिए परमात्मा की प्रसन्नता के साथ में अप्रसन्नता के साथ में सुख दुख को हमें नहीं जोड़ना है लेकिन दूसरा पक्ष परमात्मा के साथ में है वो प्रसन्न होता है तो और अधिक देता है वो अप्रसन्न होता है तो सुविधाओं को छीन लेगा अयोग्य को नहीं देगा इस दृष्टि से हम कह सकते हैं परमात्मा प्रसन्न होता है और परमात्मा अप्रसन्न भी होता है लेकिन इससे परमात्मा की न तो कोई निंदा होती है ये दोनों ही गुण परमात्मा में होते हुए परमात्मा के गुण है परमात्मा की प्रसन्नता भी परमात्मा का गुण है परमात्मा का अप्रसन्न होना भी उसकी महानता है तो महर्षि के जो वचन है कि हमको सुखी देख के अत्यंत प्रसन्न हो परमात्मा प्रसन्न होता है तभी महर्षि ने लिखा है और उसका हमें इसी तरह से अर्थ लेना चाहिए संगति लगानी चाहिए तो आर्य के मन में परमात्मा को स्वीकार करते हुए इंद्र सब जगह विराजमान है राजा है और कैसे मैं इन सब वस्तुओं से उपयोग लू इनका हित करते हुए अपना हित संपन्न करूं इस संसार में रहने की रीति है आर्य इस बात को समझ करके उसी तरह से चलने का प्रयत्न करता है मन में भावना रखते हुए ओम का उच्चारण ओ